दोस्तों आज जिंदगी नामा प्रोग्राम में हमारे साथ एक ऐसी महान शख्सियत हैं जिन्होंने इतिहास अपने नाम किया जब ये दौड़ा करते थे तो इनके कदम हवा से बातें करते थे इसी कारण दुनिया ने इन्हें नाम दिया फ्लाइंग सिख हम बात कर रहे हैं लेजेंडरी एथलीट पद्मश्री मिल्खा सिंह जी की मिल्खा सिंह का जन्म सन 1932 में लायलपुर पाकिस्तान में हुआ भारत पाकिस्तान बंटवारे के कत्लेआम से बचते बचाते छिपते छिपाते ये भारत आए लेकिन पार्टीशन के वक्त हुए दंगों ने इनसे इनके माता पिता भाई बहन रिश्तेदार सब छीन लिए लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी मुसीबतों और चुनौतियों से लड़ते मुकाबला करते हुए इन्होंने आगे बढ़कर भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया सन उन्नीस में मिल्खा सिंह भारतीय सेना में भर्ती हुए वहीं पर क्रॉस कंट्री में दौड़कर इन्होंने दिखा दिया कि ये सबको पीछे छोड़ आगे निकल जाएंगे और भारत का नाम बुलंदियों पर ले जाएंगे आज हम बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं क्योंकि आज जिंदगी नामा में हमारे साथ हैं legendary athlete flying Sikh Milkha Singh Milkha Singh ji बहुत बहुत स्वागत है आपका जिंदगी नामा प्रोग्राम में मुझे बहुत खुशी है कि ऑल इंडिया रेडियो वाले यहाँ पे इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं सबसे पहले तो मैं जो ऑल इंडिया रेडियो सुनते हैं सबको नमस्कार और मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार बात यह है कि जब से फिल्म आई है भाग मिल्खा भाग तब से लोग दीवाने हैं और मेरे मैनेजर के पास करीबन कोई सौ लेटर रोज का आता है मगर अब मेरा हर फंक्शन पे जाना नामुमकिन बात है उसकी वजह यह है कि एक तो एज है 92 में जा रहा हूँ दूसरा कुछ बैक एक भी रहती है कुछ नज़र भी कमज़ोर हो गई है और यादाश्त भी कुछ कम हो गई है मगर फिर भी मैंने अपने मैनेजर से कह के रखा हुआ है कि जो 100-200 लेटर रोज़ का आता है उसमें से अब बाहर जाना ट्रैवल करना तो मुश्किल होता है क्योंकि अब अगर ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड या कनाडा वहाँ पे तो मैंने बिल्कुल जाना छोड़ दिया है वहाँ से भी बहुत से लेटर आते हैं बहुत सी लोगों के पास ही आते हैं मगर फिर भी मैंने मैनेजर से कह रखा है कि महीने के अंदर तीन या चार फंक्शन एक्सेप्ट करो जहाँ पे मुझे ज़्यादा ना ट्रैवल करना पड़े नंबर वन दूसरी बात ऐसे फंक्शन एक्सेप्ट करो जहाँ पे यंग बच्चे हों नौजवान बच्चे हों हो सकता है कि मिल्खा सिंह के जाने से वो मिल्खा सिंह को देख के उन बच्चों को चिंगारी लग जाए और वो आगे बढ़ जाएं और आगे बढ़ के देश का तिरंगा झंडा ऊंचा कर दें तो इससे बड़ी बात कोई और हो नहीं सकती तो मैं उनसे कहता रहता हूँ कि ये चीज़ें जो हैं आपने ज़रूर करनी है जी मिल्खा सिंह जी अब बात करते हैं आपके बचपन की तो बचपन के दिन किस तरह से गुजरे कभी याद आते हैं वो दिन आपको बचपन के दिन जब मुझे याद आते हैं तो मैं बहुत रोता हूँ पूछिए क्यों क्योंकि आपको तो मालूम नहीं है जो पार्टीशन हुआ है पार्टीशन के अंदर मेरे माँ बाप मेरे बहन भाई मेरी आंखों के सामने मारे गए जो हुआ आप लोगों को क्योंकि आप तो पैदा भी नहीं हुए होंगे तो आप लोगों को तो पता नहीं है मगर मैंने हर एक चीज़ आंखों से देखी है बात यह है कि जो हमारे गांव वाले थे उनको ये मालूम ही नहीं था कि इंडिया और पाकिस्तान ये क्या बन रहा है क्योंकि हमारा गांव जो था बहुत बैकवर्ड एरिया के अंदर था वहाँ पे दो सरदारों के गांव थे मगर उनको इस चीज़ का कुछ इलम नहीं था क्योंकि मैं जब स्कूल जाता था पढ़ने के लिए तो मेरे गांव से सिटी का स्कूल जो था वो दस किलोमीटर था दस किलोमीटर मैं रोज़ जाता था नंगे पाँव और दस किलोमीटर आता था वापस और रास्ते के अंदर रेत के टिब्बे हुआ करते थे रास्ते के अंदर दो नहरें पार करके मैं जाया करता था तो जब ये पार्टीशन की बातें होने लगीं तो जब मैं सिटी के स्कूल में जाता था जब मैं वापस आता गाँव में तो मैं आके बताता था कि भाई ये क्या इंडिया और पाकिस्तान बन रहा है हमें अपना गाँव छोड़ के जाना पड़ेगा तो लोग सोचते थे ये क्या हो रहा है ये क्या चीज़ें हो रही हैं तो मुझे याद है कि हमारे गांव के पास एक और सरदार और हिंदुओं का गांव था वो भी अपना गांव छोड़ के करीबन कोई दो किलो ढाई किलोमीटर पे वो था वो भी हमारे गांव के अंदर आ गए और जो गुरुद्वारा था गुरुद्वारे के अंदर हम सब सब लेडीज जो थी वो गुरुद्वारे के अंदर रह रही थी लंगर वहीं पकता था वहीं पे रोटियाँ सबको सर्व की जाती थी तो जो पड़ोसी मुसलमान थे हमारे गांव के आसपास वो हमें कुछ नहीं कहना चाहते थे क्योंकि हम उनकी मैरिजेज में जाते थे वो हमारी मैरिजेज में आते थे तो जैसे भाई रहते हैं इस तरह से वो आपस में हम रहते थे जी जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जो आपके आस पड़ोस वाले मुस्लिम थे वो लोग नहीं चाहते थे कि आप गांव छोड़कर जाएं तो वो कौन से लोग थे जिन्होंने इस तरह के हालात पैदा किए मजबूर किया कि आप अपना गांव छोड़ दें बाहर के जो मुसलमान आए उन लोगों ने ये चीज़ आके उठाई कि देखो जी ये गाड़ियाँ वहाँ से कटी हुई आ रही हैं यहाँ से कटी हुई जा रही हैं आपने इनको क्यों पनाह दे रखी है देखो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में कोई भी इंसान चाहे मुसलमान है चाहे हिंदू है चाहे सिख है या ईसाई है कोई अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहता तो बात ये थी कि उन लोगों ने हमें ये मैसेज दिया जो बाहर के कबायली मुसलमान आए उन लोगों ने कहा कि आप मुसलमान बन जाओ हम आपको छोड़ देंगे आप यहाँ पे रह जाइए तो ये चीज़ किसी को मंजूर नहीं थी कोई भी इस चीज़ को मानने वाला नहीं था गुरुद्वारे में मीटिंग हुई उन मीटिंग के अंदर कहा गया कि जी हम तो मुसलमान नहीं बनेंगे और ना ही हम अपना गांव छोड़ेंगे मुझे याद है क्योंकि मेरी सोलह सतारह साल की उम्र थी तो मुझे तो हर एक चीज़ याद है गलियों पर खड़े होकर हमने पैरा दिया हुआ है तो वो मैं आपको ये बताने लगा था कि वहाँ पे जो लोग मारे गए क्योंकि यहाँ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और जना की आपस में लड़ाई चल रही थी वो तो अपनी कुर्सी के लिए लड़ रहे थे मगर जो मारा गया वो गरीब आदमी मारा गया वहाँ तो मुझे इस बात का दुख है वो सीन मैं कभी भूल नहीं सकता मुझे जब याद आता है तो हमेशा मेरी आंखों के अंदर आंसू आ जाते हैं मेरे माँ बाप मेरी आंखों के सामने कत्ल किए गए और आपको दूसरी चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो फिल्म बनी है भाग मिल्खा भाग मेरे फादर के ये लफ्ज़ थे कि मिल्खा भाग यहाँ से जैसे हम मर रहे हैं ये तुझे भी मार देंगे तो मैं भाग के जंगल में छुप गया तो जब ये स्टोरी लेने के लिए आए डायरेक्टर सारे बॉम्बे से तो ये चीज़ जब उन्होंने पूछी मेरे से जैसे आपने पूछा इसी तरह से उन लोगों ने पूछा तो मैंने बताया ये मेरे माँ बाप के लफ्ज़ थे कि भाग मिलखा भाग यहाँ से निकल जा तुझे भी मार दे तो मुझे बचपन सारा जो जब याद आता है तो आंखों में आंसू आते हैं जी बिल्कुल देश के विभाजन का दर्द आपने बहुत सहा आज तक वो दर्द कहीं ना कहीं आपकी आंखों में आंसू ला देता है मिल्खा सिंह जी आपको पाकिस्तान से जिन हालातों के चलते अपना घर अपना गांव छोड़ना पड़ा भारत में आना पड़ा और फिर उसके बाद आप भारतीय सेना में भर्ती हुए तो उस भयानक हादसे के बावजूद जिस हादसे ने आपके माँ बाप आपके रिश्तेदार आपसे छीन लिए उसके बावजूद आपने अपना जो हौसला है वो मजबूत किया और भारतीय सेना में भर्ती हुए तो भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए किसने आपको प्रेरित किया हाँ ये बात जो आपने पूछी है सही है कि जब मैं पार्टीशन के बाद जितने भी रेफ्यूजीज थे वो पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के ऊपर आके लैंड किया करते थे एक नई दिल्ली है एक पुरानी दिल्ली है पुरानी दिल्ली प्लेटफार्म पे मैं पहुंचा गाड़ी आई वहाँ पे रुकी गाड़ी खून से भरी हुई थी मुझे याद है और प्लेटफार्म के ऊपर जहाँ पे मैं रह रहा था वहाँ पे सारे रेफ्यूजीज पड़े हुए थे ना तो वहाँ पे सोने के लिए जगह थी ना पीने के लिए पानी था ना रोटी खाने के लिए थी सब आदमी चिल्ला रहे थे रो रहे थे किसी की बहन मर गई किसी का भाई मर गया किसी का माँ मर गई किसी का बाप मर गया तो सारे रेफ्यूजीज वहाँ पे लैंड करते थे तो अब इंसान सोचता है कि भाई कितनी बार बैठ के रोते रहेंगे तो फिर मुझे वहाँ पे तीन चार लड़के हम उम्र जो मेरी उम्र के लड़के थे सारा अठारह साल के लड़के वो मुझे मिल गए तो सब ने ये सोचा कि भाई अब कुछ ना कुछ तो करना है लाइफ के अंदर क्योंकि जब दिल्ली रेलवे स्टेशन पे आप लैंड करते थे तो वो आपके घर का पता लिखते थे कहाँ से आए हो और कोई आपका रिश्तेदार यहाँ पे या ये वो सारी चीज़ें पूछते थे हमें लिखाना पड़ता था वहाँ पे वे मेरा नाम मिल्खा सिंह है मेरा गांव गोबिंदपुरा है पाकिस्तान मुल्तान के पास था मैं वहाँ से आया हूँ वो सारी चीज़ मैंने वहाँ पे लिखाई तो वो रोज़ पुकारते रहते थे कि फलाने का रिश्तेदार है यहाँ पे ये है वो है अगर किसी को खबर चले तो वो आके पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पे आके मिल लें तो अब जो क्वेश्चन आपने किया है कि आर्मी में हम कैसे गए क्या हुआ तो वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम तीन चार लड़के जो थे हम उम्र तो हमें पता चला कि रिक्रूटिंग ऑफिस जो है वो लाल किला जहाँ पे है लाल किले के पास में आर्मी अगर रिक्रूटिंग ऑफिस है तो वहाँ पे भर्ती के लिए ट्राई की जाए तो हम तीनों गए अब पचास पोस्टें निकली हैं तो सारा रेफ्यूजी या जितने भी लोग थे आए हुए पाकिस्तान से वो सारे वहाँ पहुँचे हुए हैं पचास पोस्टों के लिए पाँच हजार आदमी पहुँचा हुआ है अब आप सोच लीजिए कि 50 पोस्टें हैं पाँच हजार आदमी है फिजिकली तो मैं फिट था उन्होंने चेस्ट मेरी देखी ठीक थी हाइट मेरी देखी ठीक थी वेट मेरा देखा ठीक था टेस्ट जो उन्होंने कहे वो हमने पूरे कर दिए तो मैंने दो तीन बार ट्राई की तो सिलेक्ट नहीं हुआ फिर मेरे एक भाई थे जो बच के आए थे वो ब्रिटिश आर्मी में थे तो मैंने उन्हें कहा मेरे से बड़े थे तो मैंने उनसे कहा भाई अब मेरी तो पढ़ाई भी नहीं है छूट गई है कोई काम भी नहीं है मैं जेल भी चला गया हूँ बगैर टिकट पकड़ा गया था जेल भी चला गया तो आप मुझे अगर आर्मी में करा सकते हो तो करा दो फिर उसने मेरे भाई ने उनके साथ एक आदमी था उसको कह के फिर जाके मैं सिलेक्ट हुआ और आर्मी में चला गया तो आर्मी में जाने के बाद ही मिल्खा सिंह को पता चला कि 400 मीटर क्या होता है ओलंपिक गेम्स क्या होती हैं एशियन गेम्स क्या होती हैं इन चीज़ों का इसका क्रेडिट जो जाता है वो आर्मी को जाता है उन्होंने मुझे बताया और उन्होंने मुझे दौड़ना सिखलाया जी जिस तरह से आपने बताया कि आर्मी में जाकर ही आपको पता चला कि एशियन गेम्स क्या होती हैं ओलंपिक गेम्स क्या होती हैं तो सेना में कौन से ऐसे शख्स थे जिन्होंने आपको दौड़ने के लिए प्रेरित किया और आपका करियर जो है वो बतौर एथलीट शुरू हुआ वो ऐसे है कि जब मैं आर्मी में रिक्रूट भर्ती होकर रिक्रूट जाते हैं ना पहले तो वहाँ पे जब मैं भर्ती होकर सिकंदराबाद पहुँचा तो वो जाते ही आपको किट वगैरह इशू करते हैं शूज़ एंड बक्सा भी देते हैं फिर वो यूनिफॉर्म भी देते हैं हर एक चीज़ आपको दी जाती है तो पंद्रह दिन के बाद रोल कॉल होती है रोल कॉल कहते हैं कि आर्मी के नौजवान जो हैं रात को एक साथ इकट्ठे होते हैं तो वहाँ पे उनको नेक्स्ट डे का प्रोग्राम बताया जाता है जो भी नई चीज़ होने वाली होती वो वहाँ पे रोल कॉल के अंदर अनाउंस करते हैं वहाँ पे तो पंद्रह दिन के बाद रोल कॉल तो रोज ही होती है शाम को मगर उस दिन ये अनाउंस हुआ कि कल पाँच मील की उस टाइम हमारे ज़माने में मील हुआ करते थे आजकल तो किलोमीटर्स हो गए हैं ना भाई कल पाँच मील की क्रॉस कंट्री होगी और उस क्रॉस कंट्री के अंदर ये तीन चार सौ जवान दौड़ेंगे और उसमें से जो दस नौजवान पहले आएंगे उनको सिलेक्ट किया जाएगा और उनको फर्दर ट्रेनिंग दी जाएगी तो हुआ ये कि वो जब रात को वापस बैरक में गए बैरक जो होती है उसमें सब एक साथ रहते हैं चाहे कोई बंगाली है मद्रासी है बिहारी है पंजाबी है किसी भी स्टेट का कोई रहने वाला है वो बैरक एक ही होती है सबके लिए तो उसमें हम करीबन कोई तीस चालीस जवान रह रहे थे बीस चार पाई इस तरफ होती हैं बीस इस तरफ होती हैं तो बीच में रास्ता होता है चलने का तो अब अपनी अपनी बातें कर रहे हैं भी कल दौड़ है मैं भी दौड़ूंगा मैं भी दौड़ूंगा मैं भी दौड़ूंगा तो वो जब दौड़ शुरू हुई सुबह वो लाइन पे खड़े हो गए हम विसल बजी उससे पहले उन्होंने अनाउंस किया पाँच मील की क्रॉस कंट्री थी अब तकरीबन कोई छः सात किलोमीटर होगा तो उन्होंने कहा भी आधे रास्ते पे जाके वहाँ पे आपको पर्ची मिलेगी और वहाँ से वो पर्ची लेके आपने वापस आनी है तो मुझे याद है कि भाई हम तेज़ दौड़े पीछे से और भी सब नौजवान दौड़े मेरा पेट पकड़ा गया फिर मैं बैठ गया फिर मैंने दौड़ना शुरू कर दिया ये क्रेडिट सारा जो है मेरे स्कूल टाइम में जाता है क्योंकि मैं 10 किलोमीटर रोज जो चल के स्कूल जाता था रेत के टिब्बे रास्ते में आते थे तो मैं जॉगिंग करता था जाके जहाँ पे मुझे ग्रास का पैच मिलता था वहाँ मैं खड़ा हो जाता था तो वो मेरा स्टेमिना थोड़ा बहुत बना हुआ था तो हुआ ये कि दो तीन चार सौ जवान जो दौड़े उसमें से मैं पर्ची लेके वापस आया आते ही मैं थोड़ा बहुत अब सांस चढ़ा हुआ था तो मैं आके लेट गया तो ये जो पांच मील की क्रॉस कंट्री में आप दौड़े तो क्या हुआ आप पहले नंबर पर आए क्या हुआ था उस रेस के बाद हुआ ये कि रेस खत्म होने के बाद जब रात को दोबारा रोल कॉल हुई अब मुझे नहीं मालूम कि मेरा कौन सा नंबर आया है क्या है तीन चार सौ जवानों में से तो वो जब रात को रोल कॉल हुई तो उन्होंने कहा जी number one so and so number two so and so number three so and so करते करते करते उन्होंने कहा छठे नंबर पे मिल्खा सिंह तो सडनली मुझे शौक सा लगा मैंने कहा ये क्या हो गया अब देखो जिस इंसान को कोई नहीं जानता है कि मिल्खा सिंह कौन है कहाँ से आया है मेरे साथ के कितने लोग वहाँ पे हैं तो जब मैं बैरक में वापस गया तो जो मेरे साथ तीस चालीस आदमी रह रहे थे उन सब ने मुझे कंधे पे उठा लिया मिल्खा सिंह जी आपने कमाल कर दिया कमाल कर दिया हमारी बैरक का नाम ऊंचा कर दिया तो ये थी मेरी शुरुआत जिस आदमी को कोई नहीं जानता सडनली उसका नाम आ जाए आगे तो वो कहता है ये तो मेरे लिए जिसने इतनी तकलीफें देखी हूं तो वो कहता है ये चीज़ तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है तो फिर वो जो दस आदमी थे उनको फर्दर ट्रेनिंग दी गई तो वो ट्रेनिंग देने से ही जो हमारा उस्ताद जो गुरु जो था हवलदार गुरदेव सिंह उसने मुझे बताया कि इस क्रॉस कंट्री के बाद जो है एथलेटिक मीट होनी है एथलेटिक मीट जो होती है उसके अंदर 20-25 इवेंट्स होते हैं 100 मीटर है 200 मीटर है 400 मीटर है 1500 मीटर है 10,000 मीटर है 5000 मीटर है डिस्कस है शॉर्ट पुट है लॉन्ग जंप है कितने इवेंट्स हैं उसके अंदर तो उसने मुझे बताया मिल्खा सिंह जी अब 400 मीटर दौड़ोगे तो मैंने कहा जी 400 मीटर कितना होता है उसने मुझे एक ट्रैक का निशान लगा के बताया ऐसे खोल चकर मैंने सोचा यार रोज़ का पाँच मील दस मील दौड़ाता है हमें ये तो 400 मीटर मेरे लिए क्या चीज़ है कुछ भी नहीं है तो वो 400 मीटर उसने बताया उन्होंने पचास रिक्रूट खड़े किए भाई इनमें से जो फर्स्ट आ जाएगा उसको हम 400 मीटर के लिए सिलेक्ट कर लेंगे तो फिर उसके बाद मैंने उससे पूछा आगे जब ट्रेनिंग देना शुरू की मैं तो 400 मीटर में भी फर्स्ट आ गया क्योंकि स्टेमिना मेरे में था तो वो 400 मीटर की मुझे ट्रेनिंग देना शुरू कर दी उन लोगों ने तो ये थी चीज जबकि मिल्खा सिंह को आर्मी के अंदर जाके इस चीज का पता चला सारी चीज का जी इसके बाद आपने नेशनल रिकॉर्ड बनाया और सन 1956 की अगर बात करें मेलबॉर्न ऑस्ट्रेलिया ओलंपिक की अगर बात करें तो उसमें सिलेक्ट होने के लिए किस तरह का संघर्ष करना पड़ा आपको चाहे आपका फील्ड है या डॉक्टर्स हैं इंजीनियर्स हैं या स्पोर्ट्समैन हैं किसी भी फील्ड में कोई आदमी है जेलसी हर जगह में होती है ये आप मानते हो ना अब जब मैं नेशनल लेवल पे पहुंच गया तो जो लड़के पहले इंडिया में फर्स्ट सेकंड थर्ड आते थे 400 मीटर के अंदर उन लोगों को पता चला ये नया लड़का कहाँ से आ गया तो वो फिल्म में भी दिखाया गया है कि उन लोगों ने मेरी टांगें तोड़ने की कोशिश की मुझे जान से मारने की कोशिश की रात को 12 बजे जब हम मैं सोया हुआ था उन्होंने डंडे लेके मेरी टांगों पे मारे मेरे पाँव पे मारे मेरे सिर पे मारे जब हाय हाय की आवाज आई लोग उठे उन्होंने लाइट जलाई तो उतने में वो भाग गए थे अब मुझे तो मालूम था कि कौन लोग थे जिन्होंने ये काम किया और हुआ ये कि नेक्स्ट डे सुबह जब रात को ये इंसिडेंट हुआ तो सुबह ही हमारे ट्रायल थे मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए ओलंपिक गेम्स के लिए तो उसमें वो लड़के भी दौड़ रहे थे मेरे साथ अब मुझे डॉक्टर ने कहा और मेरे कोच ने कहा कि मिल्खा सिंह आपको बुखार है मत दौड़ो मर जाओगे मैंने कहा चाहे मैं मर जाऊं मगर मैं दौड़ूंगा ज़रूर मैंने इतनी मेहनत की हुई है तो मैं दौड़ा मैंने उन लड़कों को बीट किया और सिलेक्ट हुआ मेलबर्न चला गया तो मेलबर्न जाने के बाद मुझे पता चला कि वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या होता है 400 मीटर कैसे दौड़ी जाती है जो अमेरिकन लड़का वहाँ फर्स्ट आया था हालांकि मैं फर्स्ट राउंड में बाहर हो गया जी ऐसा क्या हुआ था कि आप फर्स्ट राउंड में ही बाहर हो गए क्योंकि वहाँ पे बहुत सी चीज़ें ऐसी थीं जो मुझे नहीं करनी चाहिए क्योंकि यहाँ इंडिया में हमारे ज़माना ऐसा था कि अगर आप अपनी सिस्टर से भी बात कर रहे हैं तो लोग आपको मारना शुरू कर देते थे लड़की से बात करनी तो बहुत मुश्किल हुआ करती थी उस ज़माने के अंदर आजकल तो ज़माना फ्री हो गया मगर हमारा ज़माना कुछ और था तो वहाँ पे जाकर लड़कियों के चक्कर में पड़ गए मेलबोर्न गए तो जब मैं रेस हार गया तो मेरा कोच मुझे कहता है मिल्खा ये काम आपका नहीं है हिंदुस्तान ने आपको यहाँ भेजा है इस चीज़ के लिए नहीं भेजा है तो वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने उस बात को बहुत महसूस किया जब मैं फर्स्ट राउंड में बाहर हो गया और फिर मैंने मेरे दिल में आग थी कि जो लड़का वहाँ पे अमेरिकन लड़का 400 मीटर के अंदर फर्स्ट आया था मेलबर्न ओलंपिक के अंदर ऑस्ट्रेलिया के अंदर 56 में मैंने कहा कि मैं उस लड़के के पास जाऊंगा मुझे इंग्लिश नहीं बोलना आती थी मैंने उसे इशारों में समझाया जाके क्योंकि हम तो गांव के पढ़े हुए हैं ये इंग्लिश के स्कूल के थोड़े पढ़े हुए थे कि मुझे इंग्लिश टूटी फूटी थोड़ी बहुत बात समझाई मैंने उसको तो वो लड़के को मेरे को मिलने की ख्वाहिश थी कि जो लड़का 400 मीटर में फर्स्ट आया मैंने उसे ज़रूर मिलना है उससे पूछना है कि उसका ट्रेनिंग शेड्यूल क्या होता है वो क्या करता है जो उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है उसमें क्या खूबी क्या है उसमें तो आपको मालूम है कि ओलंपिक विलेज होता है यहाँ पे अमेरिका की टीम रह रही है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की टीम रह रही है यहाँ पे कनाडा की टीम रह रही है यहाँ पे इंडिया की टीम रह रही है तो सारी टीम जो होती है वो आसपास होती हैं दो दो तीन तीन पाँच पाँच मिनट की वॉक के ऊपर अमेरिकन टीम हमारे इंडियन टीम के पास ही रह रही थी तो मैं उस लड़के के पास चला गया जब मैं गया तो उस लड़के के कमरे के बाहर फोटोग्राफर बैठे हुए हैं प्रेस वाले बैठे हुए हैं अब उसने गोल्ड मेडल जीता हुआ था वो सारे उसकी इंटरव्यू लेने के लिए आए हुए थे तो जब मैं उसके कमरे के बाहर गया तो मुझे अब जानता ही नहीं वो मैं कौन हूँ क्या है मुझे कहता है yes gentleman what can I do for you मैंने कहा my name is Milkha Singh I want your coaching schedule coaching schedule मैंने तीन चार बार उसको रिपीट किया you want my coaching schedule what I have no time today can you come tomorrow तो मैं उसी तरह से वापस चला गया पास में तो रहते थे हम वहाँ पे नेक्स्ट डे फिर पहुंच गया अब मैंने उसे इशारों इशारों में बताया कि I am Milkha Milkha 400 metre 400 metre अब पूरी तो इंग्लिश में बोल नहीं सकता था 400 मीटर कहता yes you are coaching schedule you are coaching schedule मैंने दो तीन बार उसे कहा तो वो समझ गया कि ये मेरा कोचिंग शेड्यूल चाहता है तो मुझे कहता है कि what is your timing in four hundred metre तो उस टाइम मैं अड़तालीस सेकंड में दौड़ता था तो मैंने कहा forty eight second very good very good very good वो दौड़ता था फोर्टी सिक्स सेकंड में दो सेकंड का फर्क कम से कम पंद्रह बीस गज का फर्क था आपको मालूम है ओलंपिक गेम में तो फ़ोटो फिनिश होती हैं सारी तो उसने वो सारी बात समझ के मेरे से फिर उसने अपना प्रोग्राम मुझे लिखा कि मैं मंडे को क्या करता हूँ ट्यूसडे को क्या करता हूँ वेडनेसडे को क्या करता हूँ कितनी क्रॉस कंट्री करता हूँ कितनी हिल रनिंग करता हूँ कितनी सैंड रनिंग करता हूँ कितने स्टार्ट लेता हूँ तो ये सारी चीज़ें उसने मुझे बतलाई तो जब मैं वापस आया उसने लिख के दिया था वर्ल्ड रिकॉर्ड 400 मीटर का ये तो रास्ते में मैंने अपने कोच से बात की प्लेन के अंदर कहता मिल्खा ये विल पावर के बगैर ये चीज़ होने वाली नहीं है तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि विल पावर मिल्खा सिंह के अंदर थी डेडिकेशन मिल्खा सिंह के अंदर थी हुआ ये कि जब प्लेन लैंड किया दिल्ली में मैंने लैंड किया तो नेशनल स्टेडियम में हमने जाना था ठहरने के लिए दिल्ली में आजकल जिसे ध्यानचंद स्टेडियम कहते हैं मेजर ध्यानचंद स्टेडियम मैंने धरती माता की कसम खाई कि जब तक मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं तोड़ लूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा मेरा कोच आता था ट्रेनिंग देने के लिए जिस दिन मैं उसके कहने से काम नहीं करता था वो रोना शुरू कर देता था कहता था मिल्खा मैं कल यहाँ नहीं आऊंगा रात दिन वो सोता नहीं था उसके दिमाग में ये बात थी कि मैंने मिल्खा सिंह से वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ाना है और मिल्खा सिंह में हिम्मत है ये वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ सकता है जब मैं गिर जाता था बेहोश होके ब्लड वोमिट करता था यूरिन के जरिए ब्लड जाता था तो दूसरे लड़के छोड़ के अलग बैठ जाते थे वो कहते कोई साहब हमने नहीं मरना है ये मरता है तो मरने दो तो कोच मेरे कानों में ये कहता था मिल्खा सिंह उठो एक और लगानी है मैंने कहा कोई साहब मुझे तो वोमिटिंग हो रही है मुझे मेरा तो बुरा हाल है तो आप कह रहे हैं कि एक और लगानी कहता नहीं एक और लगानी है वही चीज़ जो आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ाएगी तो जब मैंने एक और लगानी तो फिर वोमिटिंग होनी और बेहोश पड़े रहना मैंने कितनी कितनी देर और रोज़ का ये काम था मैं कहता था किसी दिन भगवान मुझे बचा ले मैं भगवान के हाथ जोड़ता था कि मैं नहीं दौड़ूंगा आगे से मुझे बचा ले आज क्योंकि रोज़ ही बेहोश हो जाता था मगर इरादा इतना मजबूत था विल पावर इतनी थी मेरे में कि मैंने ये काम करना ही करना है उसका क्रेडिट मैं अपने कोच को देता हूँ उसका क्रेडिट मैं आर्मी को देता हूँ क्योंकि मुझे अभी तक याद है कि मैंने तिरंगा झंडा लहराना था यूएसए के अंदर मिशीगन के अंदर मुझे अभी तक याद है वहाँ पे करीबन पैंतीस हजार इंडियन इकट्ठा हुआ हुआ था उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं मिल्खा सिंह यहाँ पे आए और आके तिरंगा झंड पंद्रह अगस्त की बात है ये करीबन कोई छः सात साल पहले की बात है तो मुझे पता चला कि वही कोच जो मुझे ट्रेनिंग देता था रणबीर सिंह कि वो बीमार है और मिशीगन में रह रहा है करीबन कोई दस पंद्रह मिनट की ड्राइव के ऊपर तो मैंने गाड़ी भेजी कार भेजी मैंने कहा उसको वहाँ से लेके आओ वो कोच को लेके आए जब मैं स्टेज पे बोल रहा था तो कोच आया व्हील चेयर पे वहाँ पे और मैंने पैंतीस हजार इंडियंस के सामने रणबीर सिंह को ऐसे उठाया कुर्सी से जोर से लिफ्ट किया अपने कंधे पे लाया मैंने कहा दोस्तों मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि अगर आज दुनिया में मिल्खा सिंह का नाम मशहूर है तो इसका क्रेडिट जो है इस कोच को रणबीर सिंह को जाता है लोगों ने बड़ी क्लैपिंग की उसके लिए बड़ी क्लैपिंग की कहा कि ये आदमी है जिसने मुझे बनाया तो ये होती है विल पावर और ये होती है मेहनत मिल्खा सिंह जी आपकी मेहनत आपका जज्बा आपका जुनून कि इंडिया के लिए आपने गोल्ड मेडल लाना है आप जी तोड़ मेहनत कर रहे थे और फिर आपको आपकी मेहनत का फल मिला जब सन उन्नीस में आपने कॉमनवेल्थ गेम्स में पहला गोल्ड मेडल जीता स्वतंत्र भारत के आप पहले गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी बने तो कैसा महसूस हुआ था आपको जब आपने पहला गोल्ड मेडल हासिल किया बड़ी आपने अच्छी बात पूछी है मैं जिंदगी में मैंने आपको बताया अभी चार पांच बार रोया तीन बार गमी के आंसू और दो बार खुशी के आंसू गमी के आंसू के बारे में मैंने आपको बता दिया जब मेरे माँ बाप मारे गए तब रोया दूसरी बार रोया जब रोम ओलंपिक के अंदर मैंने गोल्ड मेडल मिस किया वो जिंदगी भर जो चीज़ है मरते दम तक कभी नहीं भूल पाऊंगा क्योंकि मैंने दुनिया के अंदर 80 इंटरनेशनल रेसेस दौड़ी थी और 77 जीती 77 टाइम मैंने तिरंगा झंडा ऊंचा लहराया और नेशनल एंथम बजाया रोम ओलंपिक में जाने से पहले ये रेसेस मैंने दौड़ी थी और उसमें ये था कि दुनिया का हर आदमी ये जानता था क्योंकि मिल्खा सिंह का रिकॉर्ड बन चुका था सारी दुनिया में जहाँ भी दौड़ता था पेरिस में दौड़ा मिल्खा सिंह जीत गया लंदन में दौड़ा मिल्खा सिंह जीत गया मॉस्को में दौड़ा मिल्खा सिंह जीत गया यूएसए में दौड़ा मिलकर हर जगह जीतता जा रहा था तो लोग ये कहते थे कि 400 मीटर रोम ओलंपिक में अगर कोई जीतेगा तो डेफिनेटली मिल्खा सिंह इंडिया का जीतेगा और कोई नहीं जीत सकता तो उस रात को मैं बहुत रोया रेस में थोड़ी सी गलती हो गई और पंद्रह साल की मेहनत पे पानी फिर गया जी ऐसा क्या हुआ था उस रेस में क्योंकि फ्रिक्शन ऑफ सेकंड से आप पिछड़ गए थे हालांकि पुराना ओलंपिक का जो रिकॉर्ड था वो आपने तोड़ा फिर भी जो ओलंपिक मेडल था वो आपके हाथों से फिसल गया बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वो होती है कि दौड़ने से पहले आपकी लेंज निकलती हैं कि फर्स्ट लेन में कौन दौड़ेगा सेकंड में कौन दौड़ेगा थर्ड में कौन दौड़ेगा हमारे ज़माने में छः आदमी फाइनल में दौड़ते थे मैं फाइनल में आ गया था तो हर एक आदमी को लेन जो है वो आपके मुकद्दर के मुताबिक मिलती है अगर ये सोचें आपके भी मैं फर्स्ट लेन में दौड़ूं ये नहीं हो सकता तो मुझे पांचवी लेन मिली अब जो आदमी अच्छे दौड़ने वाले थे मेरे साथ दौड़ने वाले थे वो मेरे पीछे थे वो मुझे देख सकते थे मैं उनको देख नहीं सकता था पीछे से तो जब ढाई सौ मीटर में मैं पहुंचा अभी डेढ़ सौ मीटर और रहता था चार सौ मीटर की रेस थी तो ढाई सौ मीटर के ऊपर मैं रेस को लीड कर रहा था और सबको मालूम था कि मिल्खा सिंह जीतेगा तो सडनली मेरे दिमाग में ये बात आई जब मैं ढाई सौ मीटर पे था कि मिल्खा आप बहुत तेज दौड़ रहे हो हो सकता है कि आप ये रेस खत्म ना कर पाओ तो जिस रिदम के अंदर जिस स्पीड के अंदर मैं जा रहा था उसको मैंने ब्रेक दिया तो वहीं पे मिल्खा सिंह की और इंडिया की किस्मत का सितारा जो था वो डूब गया अगर मैं स्पीड में ब्रेक नहीं देता तो सवाल ही पैदा नहीं होता था मिल्खा सिंह का गोल्ड मेडल ना होता तो वो गलती जो रेस में हुई है उसको मैं जिंदगी भर मरते दम तक कभी नहीं भूल सकता तो वो गलती थी मैंने कोशिश की बाद में उनको पकड़ने की मगर एक बार जब आप स्पीड तोड़ दो उसको दोबारा पिकअप करना जो होता है वो बहुत मुश्किल होता है तो ये थी कि जो रोम ओलंपिक वाली जी थी उसके अंदर में रोया आपके ऊपर जो फिल्म बनी भाग मिल्खा भाग तो क्या ये फिल्म कहीं ना कहीं आपको उस पुराने दौर में वापस ले गई सुना है आपने केवल एक रुपए में वो फिल्म की कहानी आपने राकेश ओम प्रकाश मेहरा को दी उसके पीछे क्या कारण थे मैं आपको बता रहा था कि तीसरी बार रोया जब जब मैंने अपनी फिल्म देखी फिल्म जो इन लोगों ने बनाई है कमाल की बनाई है अब जहाँ भी मैं जाता हूँ जितनी भी यंगर जनरेशन जो है हिंदुस्तान की वो इतनी इंस्पायर हुई है इस फिल्म से कि हर आदमी मिल्खा सिंह बनना चाहता है मजा आ गया और मैं ये सोचता था जब ये फिल्म लेने के लिए यहाँ पे आए थे ये डायरेक्टर बॉम्बे से मेरी स्टोरी लेने के लिए आए किसी ने कहा जी हम आपको एक करोड़ दे देंगे किसी ने कहा जी हम दो करोड़ दे देंगे और किसी ने कहा कि जब फिल्म चलेगी हम इतना दे देंगे तो मेरा बेटा भी यहाँ बैठा था तीन चार डायरेक्टर जो बैठे थे वो आए थे बॉम्बे से स्टोरी लेने के लिए तो मेरा बेटा कहता पापा मैंने एक सेकंड के लिए आपसे बात करनी है तो वो मुझे कमरे में अंदर ले गया मुझे कहता है पापा अगर स्टोरी देनी है तो राकेश ओम प्रकाश मेहरा को देनी है मैंने कहा बेटे क्या बात है वो तो और देनी है तो एक रुपए में देनी है मुझे कहता है मैंने कहा तेरी बात मुझे समझ नहीं आई कि आजकल पैसा कौन छोड़ता है इस जमाने में पता नहीं इन लोगों ने कितना इस मूवी से कमाना होगा क्या करना होगा तो वो आपको पैसे दे रहे हैं नहीं पापा अब बात यह थी कि मैंने तो 1960 के बाद कोई फिल्म देखी नहीं ना ही मुझे मालूम था कि डायरेक्टर कौन अच्छा है एक्टर कौन अच्छा है प्रोड्यूसर कौन अच्छा है मुझे इस चीज़ के बारे में कुछ मालूम नहीं सिक्सटी से पहले फिल्म जरूर देखी थी राज कपूर की देखी अशोक कुमार की देखी देवानंद की देखी आपके नूर जहां हुआ करती थी उसकी उसकी देखी सुरैया थी उस टाइम उसकी देखी मगर ये आजकल के जो बच्चे चले आ रहे हैं फिल्म स्टार वो तो मैंने कभी देखे ही नहीं सिक्सटी के बाद कभी नहीं देखी फिल्म मैंने तो वो मेरे बेटे का डिसीजन था आपको मालूम है कि मेरा मिल्खा सिंह का बेटा भी इंटरनेशनल फेम का गोल्फर है जी हाँ जीव मिल्खा सिंह हाँ जीव मिल्खा सिंह उन्होंने भी गोल्फ में भारत का नाम रोशन किया है तो वो उसको राकेश ओम प्रकाश मेहरा के बारे में मालूम था क्योंकि उसने रंग दे बसंती फिल्म देखी थी तो कहता है पापा बहुत अच्छी फिल्म बनाई है और इसी को देनी है स्टोरी हम तो ये उसका डिसीजन था उसका फैसला था और ये दी गई राकेश ओम प्रकाश मेहरा को और एक रुपए में स्टोरी दी गई तो तब मैं आपको बता रहा था कि फिल्म देख के जो मैं रोया क्योंकि ज़िंदगी के अंदर हर इंसान में वीकनेसेस होती हैं मैंने उस फिल्म के अंदर हर एक चीज़ जो वीकनेस मिल्खा सिंह के अंदर थी वो मैंने पर्दे पे ला दी चोरी मिल्खा सिंह ने की जेल में मिल्खा सिंह रहा टांगे मिल्खा सिंह की तोड़ी गई क्या क्या चीज़ें मिल्खा सिंह के साथ हुई वो सारी चीजें मैंने कार्टन पे मिल्खा सिंह जी आपने बताया कि आप ट्रेन में बिना टिकट सफर करते हुए पकड़े गए थे आपको जेल जाना पड़ा ऐसा क्या हुआ था कि आपको बिना टिकट ट्रेन में सफर करना पड़ा बिल्कुल सही बात है ट्रेन में पकड़ा गया था पंद्रह दिन जेल में भी काटे मैंने और फिर मेरी सिस्टर ने आपको फिल्म में भी आपने देखा होगा कि मेरी सिस्टर ने कान की बालियां बेच के और उसने आके मुझे जुर्माना पत्नी उस टाइम पांच रुपए था या ढाई रुपए था मुझे अभी वो चीज़ें याद नहीं है मगर फिर भी वो मेरी सिस्टर ने आके मुझे छुड़ाया था वो तो ये था जो कुछ भी कराता है ये पेट जो है इंसान को वही करवा मिल्खा सिंह ट्रेवल कर रहा था बिकॉज मिल्खा सिंह के पास पैसा नहीं था मिल्खा सिंह ने चोरी की बिकॉज ऑफ ये पेट की खातर रोटी खाने के लिए नहीं थी तो ये चीज़ें जो होती हैं वो आदमी को जिंदा ऊपर उठाती हैं कि नहीं मिल्खा सिंह तूने ये चीज़ें की हुई हैं अब क्या है करो बढ़ो आगे ज़िंदगी में तो अब बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल पर आपके पहले गोल्ड मेडल जीतने की जब सन उन्नीस में आपने कॉमनवेल्थ गेम्स में पहला गोल्ड मेडल जीता स्वतंत्र भारत के आप पहले गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी बने तो कैसा महसूस हुआ था आपको जब आपने पहला गोल्ड मेडल हासिल किया मुझे याद है कि 1958 में जब मैंने गोल्ड मेडल जीता क्वीन आई मेरे गले के अंदर गोल्ड मेडल डाला कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर और एक लाख अंग्रेज स्टेडियम के अंदर बैठा था जब नेशनल एंथम बजा क्वीन आई गले में गोल्ड मेडल डाला विक्ट्री स्टैंड पे जब कहा गया मिल्खा सिंह इंडिया फर्स्ट तो तिरंगा झंडा ऊपर जा रहा है नेशनल थम बज रहा है सारे अंग्रेज स्टेडियम के अंदर खड़े हैं और खुशी के आंसू अपने आप मेरी आंखों में से नीचे गिर रहे थे और मैं ये सोच रहा था कि मिल्खा आज सही महीने में तूने अपने देश का तिरंगा झंडा ऊपर किया है और देश का नाम ऊंचा किया है और आपको मालूम होना चाहिए कि वो ज़माना ऐसा था कि मैंने 80 इंटरनेशनल रेसेस दौड़ी हैं और 77 जीती हैं मुझे किसी ने एक ढेला नहीं दिया आज का ज़माना ये है कि मेरे पास छः सात गोल्ड मेडल एशियन गेम्स के हैं कॉमनवेल्थ गेम्स का गोल्ड मेडल है वर्ल्ड कार्ड मैंने तोड़ा है कितनी मैंने दुनिया भर में इंटरनेशनल रेसेस जीती हैं मगर मुझे किसी ने पैसा नहीं दिया और आज आप एक गोल्ड मेडल एशिया में से लेके आ जाते हैं और करोड़ों रुपए इकट्ठे हो जाते हैं पी वी संधु है देखो उसको कितना पैसा मिल रहा है और वो हमारी शाइना नेहवाल है उसको कितना पैसा मिला है कितने बॉक्सर हैं उनको कितना पैसा मिला है रेसलर हैं उनको कितना पैसा मिला है हम सिर्फ तीन स्पोर्ट्समैन ऐसे थे जिनको जिंदगी में कुछ भी नहीं मिला ना मेजर ध्यानचंद को मिला ना लाला अमरनाथ जो फर्स्ट क्रिकेट कैप्टन थे लाला अमरनाथ मेरे साथ ट्रैवल करते थे ध्यानचंद मेरे साथ ट्रेनिंग करते थे लाला अमरनाथ मुझे बताया करता था कि मिल्खा मुझे मैच खेलने के दो रुपये मिलते थे और थर्ड क्लास में नीचे ट्रेन में सो के जाते मेरे साथ नीचे दरी बिछा लेनी और उसके ऊपर सो के मद्रास जा रहे हैं या हैदराबाद जा रहे हैं कहीं भी जा रहे हैं तो ये चीज़ें जो थी उस ज़माने में थी तो मैं आपको बता रहा था कि जब मैं वहाँ पे फर्स्ट आया तो उसके बाद जब क्वीन चली गई तो वहाँ पे एक लेडी बैठी थी वो भी आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि वो साड़ी वाली लेडी थी बॉब ढेर लेडी तो वो लेडी जब क्वीन गोल्ड मेडल डाल के चली गई तो मैं विक्ट्री स्टैंड से नीचे उतरा तो एक लेडी सामने वीआईपी गैलरी में दौड़ी आ रही मिल्खा जी मिल्खा जी मिल्खा जी आपने कमाल कर दिया तो पंडित जी का मैसेज आया अब मुझे नहीं मालूम कि ये लेडी कौन है क्या है वो मुझे अपने आप इंट्रोड्यूस करती है कि मैं जी पंडित जी की बहन हूँ मेरा नाम विजय लक्ष्मी है मैं हाई कमिश्नर हूँ यहाँ पे और पंडित जी ने पूछा है मैसेज आया पंडित जी का क्योंकि हमारे ज़माने में ना तो टीवी था ना ये मोबाइल थे कुछ भी नहीं था 58 की बात सुना रहा हूँ मैं आपको जी पंडित जी का मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल सही बात है तो फिर उसने मुझे पंडित जी का मैसेज दिया कि पंडित जी ने पूछा है कि मिल्खा से पूछो उसको क्या चाहिए अगर मैं चाहता तो मैं कहता जी 200 एकड़ ज़मीन मुझे यूपी में दे दो 200 एकड़ ज़मीन मुझे दिल्ली में दे दो दो तीन कोठियाँ मुझे दिल्ली में डलवा दो तो पंडित जी के लिए बड़ी मामूली बात थी मगर हमारा ज़माना ऐसा था कि हमें मांगते हुए शर्म आती थी और मैंने क्या मांगा आपको मालूम है इस चीज़ का वो आपने फिल्म में शायद नहीं देखा मैंने कहा था कि एक दिन के लिए सारे देश में छुट्टी कर लो तो वो छुट्टी हुई सब खुश हुए इस बात पे मैं प्राउड महसूस कर रहा था तो उस टाइम मेरे खुशी के आंसू गुजरे जी मिल्खा सिंह से फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह बनने के पीछे क्या कहानी है किसको श्रेय देना चाहेंगे और कितना सुकून मिलता है आपको अपने नाम के आगे फ्लाइंग सिख लगने से इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि आज अगर दुनिया भर में मिल्खा सिंह का नाम मशहूर है एज फ्लाइंग सिख तो इसका क्रेडिट मैं जनरल अयूब को देता वो प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के सिक्सटी के अंदर जब मैंने अब्दुल खालिक को पाकिस्तान के अंदर हराया जहाँ पे मुझे फ्लाइंग सिख का खिताब मिला और ये पाकिस्तान को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख का खिताब दिया कि जब लाहौर में फ्लाइंग सिख का खिताब मिला तो it was very great thing तब भी मैं खुशी के आंसू रोया था स्टेडियम भरा हुआ था और लोग देख रहे थे कि मिल्खा सिंह खुशी से रो रहा है जी एक किस्सा ये भी बहुत ही मशहूर है कि आ, आप ट्रेन के साथ दौड़ लगाया करते थे उसके बारे में थोड़ा बताएं ये आइडिया आपके दिमाग में कहां से आया कि ट्रेन के इंजन को पीछे छोड़ना है और दौड़कर आगे निकल जाना है हाँ ये सही बात है जब सिकंदराबाद में मैं ट्रेनिंग किया करता था तो वहाँ पे छोटी लाइन जो होती है ना छोटी लाइन पे वो गाड़ी चलती थी तो उस ड्राइवर को भी मैं बहुत बधाई देता हूँ कि जब मैं ट्रेन के साथ इंजन के साथ भागता था तो वो ड्राइवर मुझे कहता था आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ शाबाश शाबाश शाबाश क्योंकि उसको तो मालूम नहीं था कौन दौड़ रहा है मिल्खा सिंह या कोई आदमी है मगर वो हिम्मत कर रहा है ट्रेन के इंजन के साथ दौड़ने के लिए तो वो जब गाड़ी ऊपर चढ़ती थी तो उसी तरह मैं भी चढ़ाई पर चढ़ता था तो ये सही बात है कि मैं रेल के साथ दौड़ता था और मुझे उससे बहुत उत्साह मिला उससे मुझे बहुत शबाशी मिली तो ये बड़ी अच्छी बात थी जी मिल्खा सिंह जी आपने पार्टीशन का वो दर्द हमारे साथ साझा किया तो जब आप पाकिस्तान गए वहाँ आपको फ्लाइंग सिख का खिताब मिला तो अपने गांव भी आप होकर आए थे बिल्कुल सही बात है कि आपने देखा होगा जो लड़का मेरे साथ जाता था पढ़ने के लिए तो उसके माँ बाप तो मार दिए गए थे मगर उस बच्चे को वो बच्चा बच गया था उस बच्चे को मौलवी ने पाला मौलवी ने पाला और उसने उसी वहीं पे उसकी शादी की उसके बच्चे भी वहाँ पे हैं अब तो उसके बाद तो ना मोबाइल पे बात हुई है सिक्सटी के बाद तो ना ही उससे कोई ऐसा कनेक्शन हुआ है पता नहीं जिंदा है कि नहीं है मगर वो लड़का मेरे साथ था जी मिल्खा सिंह जी है तो थोड़ा पर्सनल अपनी शादी के बारे में बताएं सुना है काफी संघर्ष करना पड़ा था आपको निर्मल कौर जी से शादी करने के लिए कब कहाँ और कैसे आपकी मुलाकात मैम से हुई थी आ, आपने ठीक पूछा है कि हमारी मुलाकात जो थी वो 1954-55 में आ, सिलोन में हुई थी उस टाइम सिलोन था आजकल श्रीलंका कहते हैं उसे क्योंकि ये उस टाइम इंडिया वॉलीबॉल लड़कियों की टीम की कैप्टन बन के गई हुई थी और मैं एथलेटिक टीम में गया हुआ था वहाँ दौड़ने के लिए तो एक इंडियन था वहाँ पे सरदार जी थे वो ईरान के रहने वाले थे और उनका चाय का बिजनेस था तो जब वो ईरान वाले को पता चला कि इंडिया की दो टीमें यहाँ पे आई हुई हैं वॉलीबॉल की लड़कियों की टीम है और दौड़ने वाली टीम आई हुई है तो उसने अपने घर हमें खाने पे बुलाया तो जब खाने पे बुलाया तो वहाँ पे लड़कियों के साथ हमारी मुलाकात हुई तो आपस में बातें कर रहे थे आप कहाँ हो मैंने कहा मैं आर्मी में हूँ तो लड़कियों से बातें हुई तो कोई कहने लगी मैं फ़लाने कॉलेज में पढ़ती हूँ मैं फ़लाने कॉलेज में पढ़ती हूँ तो इन्होंने मुझे बताया कि ये फ़िज़िकल एजुकेशन कॉलेज पटियाला जो है उसमें पढ़ा करती थी तो फिर वो एक दूसरे का नंबर पूछने शुरू किए भी आपके पास टेलीफोन है मैंने कहा जी मेरे पास तो टेलीफोन आर्मी में है नहीं अगर आपके पास कोई टेलीफोन है तो आप मुझे नंबर दे दीजिए कोशिश करूंगा बात करने के लिए तो वो फिर नंबर जो था मैंने इनके हाथ पे लिखा जो आर्मी वाला नंबर था तो वो भी अगर मेरे कंपनी कमांडर को वो पहले ये टेलीफोन करती फिर वो मुझे बुलाते फिर बात करवाते फिर बात थी तो वो तो बात हुई नहीं उसके बाद मैं चला गया सिकंदराबाद अपने वापस तो ये चली गई अपना पटियाला जहाँ पढ़ती थी तो दोबारा जब पटियाला में हमारा कैंप लगा ये फिफ्टी फोर फिफ्टी फाइव की बात है तो फिर इनका जो प्रिंसिपल था प्रिंसिपल ने कहा कि मिल्खा सिंह को हम कॉलेज बुलाएंगे तो उन्होंने मुझे इज़्ज़त मान देने की कोशिश की तो वहाँ पे जब मैं गया तो ये सामने लड़कियाँ बैठी तो वहाँ पे ये भी बैठी थी तो दोबारा वहाँ पे इनके साथ मुलाकात हुई तो वो फिर दोबारा वहाँ से ये चीज़ सारी चली तो धीरे धीरे धीरे धीरे फिर आपस में हमने मिलना जुलना शुरू किया तो फिर सब चीज़ टूट गई फिफ्टी सिक्स के बाद मुलाकात नहीं हुई तो फिर इनके से मुलाकात जो हुई 1960 के अंदर जब मैंने यहाँ पे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ज्वाइन किया तो ये भी एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर आके इन्होंने भी ज्वाइन किया तो वहाँ से फिर दोबारा ये चीज़ पैदा हुई उसमें ज़िंदगी में बहुत सी लड़कियाँ आईं और आके चली गईं जो दोबारा ये चीज़ रिवाइव हुई तो फिर उसके बाद ये बात बनी तो आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि वो ज़माना ऐसा था कि आप हिंदू हैं तो आप सिखों में नहीं शादी करना चाहते थे मैं सिख हूँ तो मैं हिंदुओं में शादी नहीं करना चाहता था हमारे ज़माने में ये चीज़ें बहुत चलती थी तो ये क्रेडिट जो है मैं कैरों साहब को देता हूँ जो चीफ मिनिस्टर पंजाब के थे उन्होंने मेरे फादर इन लॉ को बुलाया और कहा कि तुम यार पढ़े लिखे आदमियों तो वकील हो तुम एडवोकेट हो और तुम ये चीज़ों में पड़ गए हो कि वो सरदार है मैं नहीं शादी करना चाहता मेरी बिरादरी वाले क्या कहेंगे और मेरी सिस्टर जो थी अकेली जो आपको बताया बच के आई थी वो कहती थी आपको इतने सरदारों की लड़की मिलती हैं तो आप हिंदुओं में क्यों शादी करना चाहते हैं तो उस ज़माने में ये चीज़ें चलती थी मगर ये कैरों साहब थे जो बीच में आए ही वॉज चीफ मिनिस्टर तो मेरे फादर इन लॉ को कहा कि नहीं आप गलती कर रहे हो आप कहते हो मेरी बदनामी होगी अगर ये जाके कोर्ट में मैरिज करा लेंगे तब बदनामी नहीं होगी तो फिर शादी के लिए माने बाकायदा सरदारों में के अंदर भी जिस तरह से होती है शादी उस तरह से भी फेरे हुए फिर हिंदू रिवाजी से भी सारा काम हुआ तो इस तरह से हमारी मैरिज हुई आप जब फौज में थे तो रेडियो सुना करते थे हाँ ऑल इंडिया रेडियो में बहुत सुनता रहा हूँ मैं ऑल इंडिया रेडियो पे गाने सुना करता था सिलोन से आया करता था मुझे अभी तक याद है और वो मोहम्मद रफ़ी के और लता के गाने बैठ के सुना करते थे आर्मी के अंदर क्या खुश हुआ करते थे जी मैं बधाई देना चाहता हूँ ऑल इंडिया रेडियो को और ये ज़रूर कहना चाहूँगा क्योंकि प्रेस वाले जो हैं जब भी मैं सुबह उठता हूँ या जब भी मैं टीवी देखता हूँ वो हमेशा क्रिकेट ही क्रिकेट आती है वहाँ पे अखबार खोल के देखता हूँ तो क्रिकेट की फ़ोटो छपी हुई है अरे भाई दुनिया में और भी गेम्स हैं मैं क्रिकेट के खिलाफ नहीं हूँ अभी मैं विराट कोहली के फंक्शन पे होके आया हूँ बॉम्बे में उन्होंने मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है मुझे खुशी हुई मैंने उस बच्चे की तारीफ की उसने मेरे पाँव छुए मगर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ प्रेस वालों से कि एथलेटिक नंबर वन मानी जाती है सारी दुनिया में उसके बाद फुटबॉल आता है उसके बाद हॉकी आती है उसके बाद कितनी गेम्स और हैं जिमनास्टिक आती है स्विमिंग आती है कितनी गेम्स और आती हैं बीस गेम्स और हैं मगर मैं उनकी कभी मैं ना मैं टीवी पे देखता हूँ कभी कभी देखता हूँ तो फुटबॉल दिखा दिया कभी कभी हॉकी दिखला दी कभी एथलेटिक दिखा दी नहीं आप टीवी पे क्रिकेट दिखलाते हो और सारी जनरेशन जो है आज वो क्रिकेट में जा रही है दूसरी गेम सारी भूल गई मिल्खा सिंह जी आज बहुत से हमारे सुनने वाले ये कार्यक्रम सुन रहे हैं खास तौर पर हमारी यंग जनरेशन जो आपकी तरह ही एथलीट बनना चाहते हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे हाँ ये सही बात है कि हम लोगों ने जो अपने देश के लिए करना था वो कर दिया मेजर ध्यानचंद जी थे लाला अमरनाथ जी थे मैं था मेरे साथ और भी कुछ नौजवान थे जिन्होंने मेडल जीते देश के लिए वो तो करके चले गए मगर अब देश का तिरंगा झंडा लहराना या देश की इज्जत को आगे बढ़ाना यह हमारी यंग जनरेशन का काम है तो मैं आने वाली जनरेशन जो आ रही है आगे बढ़ रही है उनसे ये कहना चाहता हूँ देश की इज्जत सबसे पहले है देश का तिरंगा झंडा सबसे पहले है देश का नेशनल अंथम सबसे पहले है उसको तिरंगे झंडे को आपने ऊंचा रखना है नेशनल अंथम हर फील्ड में बजाना है कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे हमारे देश की बदनामी हो क्योंकि मैं सुनता रहता हूँ कि क्रिकेट के अंदर है या कुछ गेम्स के अंदर ऐसे है कि मैच फिक्सिंग हो जाती है लोग पैसा लेके हार जाते हैं पैसा लेके जीत जाते हैं तो मैं यही एडवाइस करूंगा बच्चों से बच्चों देश की इज्जत सबसे पहले है पैसा तो आप फिर भी कमा लेंगे मगर एक बार देश की इज्जत चली जाएगी वो दोबारा वापस आने वाली नहीं है तो आगे बढ़िए आपने देश की इज्जत का ध्यान रखना है मिल्खा सिंह की आपको एडवाइस है मेहनत के बगैर विल पावर के बगैर डेडिकेशन के बगैर कोई भी इंसान किसी फील्ड में भी चाहे आपने मिल्खा सिंह बनना है चाहे आपने ध्यानचंद बनना है या लाला अमरनाथ बनना है या सचिन तेंदुलकर बनना है या विराट कोहली बनना है किसी भी फील्ड में आपने जाना है जब तक आपके अंदर विल पावर नहीं होगी इरादा मजबूत नहीं होगा तब तक आगे आपका बढ़ना बहुत मुश्किल है तो मेरी एडवाइस यही है आपने इंजीनियर बनना है डॉक्टर बनना है या किसी भी फील्ड में जाना है उनके मैं माँ बाप से ये कहना चाहूँगा क्योंकि मेरा बेटा है आज इंटरनेशनल फेम का गोल्फर है सारी दुनिया में उसका नाम है ये पहली फैमिली है जिस घर के अंदर दो पद्मश्रीज है मेरे बेटे के पास है और मेरे पास है मेरा बेटा हम नहीं चाहते थे वो स्पोर्ट्स में जाए मेरी बीवी भी नहीं चाहती थी और मैं भी नहीं चाहता था उसकी वजह यह थी कि हम सोचते थे कि हमारे ज़माने में हमें कुछ नहीं मिला तो हमारा बेटा अगर फील्ड में जाएगा तो क्या करेगा जाके स्पोर्ट्स के अंदर तो हम इसको डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहते थे मगर बच्चे की डेस्टनी होती है ये मुझे कहने लगा कि मैंने तो गोल्फ खेलनी तो मैंने बहुत कोशिश की यहाँ से इसका स्कूल भी छुड़वाया यहाँ से चंडीगढ़ से मैंने इसको शिमला भेजा सी स्कूल के अंदर मगर फिर भी आने के बाद इसने वो गोल्फ की लत जो थी इसके दिमाग में थी वो चलती रही तो मैंने कहा चलो फिर अगर गोल्फ खेलनी चलो तो मैं छः घंटे बैठ के इसके पास बॉलें मरवाया करता था इसके हाथों में से खून निकलता था मैं ये मैसेज बच्चों के माँ बाप हैं उनको ये मैसेज दे रहा हूँ कि आपका बच्चा किसी भी फील्ड में जाना चाहता है जाने दीजिए मगर उसमें जितना बच्चा हार्डवर्क करता है उससे डबल मेहनत जो है माँ बाप को करनी पड़ती है बच्चे की ज़िंदगी तब जाके बनती है तो आज मेरे बच्चे की मिसाल आपके सामने है आज मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके बच्चे अगर बढ़ना चाहते हैं किसी भी फील्ड में उनकी हेल्प कीजिए उनको जाने दीजिए आगे बढ़ें और अपने देश का नाम जो है वो ऊंचा रखें जी बिल्कुल मिल्खा सिंह जी आप जिंदगी नामा प्रोग्राम का हिस्सा बने आपने अपनी जिंदगी से जुड़ी तमाम बातें हमारे सुनने वालों के साथ हमारे साथ शेयर की जिंदगी नामा प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया और मैं ऑल इंडिया रेडियो का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और ये कहना चाहूंगा की जितने और स्पोर्ट्स मैन मिल्खा सिंह की तो लाइफ आपने बता ही दी लोगों ने सुन ली मगर मैं ये चाहता हूँ कि जो पिछले स्पोर्ट्समैन रहे हैं उनकी कहानी इन बच्चों को बताओ और जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं उनकी कहानी जैसे पीवी संधू है साइना नेहवाल है विराट कोहली है और जितने स्पोर्ट्समैन हुए हैं सचिन तेंदुलकर है तो इनके सबके बताइए उनकी कहानी बच्चों को ताकि वो बच्चे सुने आगे बढ़ें और आगे बढ़ के देश का नाम ऊंचा करें थैंक यू वेरी मच जय हिंद